राम कृपा कस भयो शरीरा पूजा कर नाम सुनिरही अति अपार भव सागर करूत तुम कब कबीराई राम हृदय धर कर पाई कहु गरुड़ जी भुगब गयके मन तुद सुन भय बल सब काहू भाखा कर संशय राखा भरत भयं अब कहसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा जब त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं करी रहूं बल भारी बलि बांधत प्रभु बाड़े शोकम धरणी में जाए उभय धरी महादीन ही सात प्रदेश में चल रही है समुद्र तट पर सब मानव एकत्र हैं और संपाति से इन सबकी बात चल रही है <coughs> संपाति ने बता दिया सबको कि सीताजी समुद्र के पार जो कि पर्वत के ऊपर जो गंगा है वहाँ पर अशोक वन है अशोक वन में वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई मैं यहाँ से देख रहा हूँ <coughs> बस तुम लोगों को वहाँ जाने की पहुँचने की जरूरत है और जाकर के उनसे मिल करके और भगवान श्री राम जी को बताओ अपना काम क्यों जो काम तुम्हारा है उसका कार्य को तुम पूरा करो और ये भी बताया कि देखो समुद्र यहाँ से यहाँ तक समुद्र जो है वो हो संयोजन संयोजन के मैंने एक योजन चार मिल हम्म, चार सौ तो उसके साथ मिल कोष कहते हैं चार पुरुष कहते हैं चार कोष का एक योग एक कोष में दो मील का एक कोष ऐसे करते तो इतना दूर तक का समुद्र है तो समुद्र को जो पार करे तो वहाँ तो मैंने भाई जो समुद्र की लंबाई अपने हिसाब से बता दी तो जो नाम भाई सब जो जन सागर करे सो का कागमत आगर तो क्योंकि दूसरी बात ये भी चाहिए तो बुद्धिमान दिखना चाहिए मत आगर मत का आगर तो मैंने खुद बुद्धिमान व्यक्ति भी हो और समुद्र पार हो दोनों बातें हैं जो शक्ति भी हो जिसमें और जिसमें बुद्धि भी हो दोनों बातें हैं वो समुद्र पार गए तो समुद्र पार में शक्ति तो कोई है ध्यान से टूट गया अगर पहुंच गया लेकिन बुद्धि अगर नहीं होगी तो आप वहाँ पर तो रामों का राज्य है विशासर है सब <clears throat> उनके बीच में कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही वहाँ पर सीता जी को खोजे पावे देखे और वहाँ से लौट करके आवे और बुद्धिहीन व्यक्ति होगा झगड़े में पड़ जाए लड़ने पड़ने लगे और बातों में पड़ जाए तो बस वहाँ पर जो हो लौटना मुश्किल पड़ जाए उसका इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भी चाहिए तो संपाति ने बताया तो दो बातों की आवश्यकता थी अब बाकी आप अपने लगाते रहे ध्यान देते रहे कि ये तुलसीदास के अनुसार ये लंका जो है वो देहाभिमान है देव की प्रवृत्ति नाम दिया देव प्रवृत्ति जो मैंने ये शरीर ही मैं हूँ उस प्रकार की भावना ही जनता इस प्रकार की है इसमें देहाभिमान ये बड़ा जो व्यक्ति इसमें देहाभिमान में पड़े तो बस समझो कि वो बुद्धिहीन व्यक्ति इसमें देहाभिमान में पड़ करके अपना विनाश ही कर लेते अधिकांश व्यक्ति जिनको कि अज्ञानी है देहाभिमानी है तो सारे जीवन उनका रोते रोते जीतता है बहुत बार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं धन संपत्ति भी है परिवार भी है भवन भी है पद भी है सब हैं लोगों के पास लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसे करके देहाभिमान के कारण से जो देह में हूँ और देह से संबंध रखने वाले दस वस्तु और व्यक्ति सब मेरी हैं ये भाव ही कोई न कोई दिन से ऐसे उत्पन्न कर देता है तो व्यक्ति पूजा साथी करता रहता है दुखी होता रहा हाय हाय हाय हाय करता ही रहता है दुख सुनते नहीं उसको तो ये सबकी जड़ जो है देहाभिमान है ये उसकी चर्चा हो रही है तो बाकी बीच बीच में अपने आप अर्थ लगाते रहे <clears throat> तो देहाभिमान से छूटने वाला व्यक्ति वही है जो थोड़ा उसमें आध्यात्मिक शक्ति हो बुद्धि भी हो वो फिर अपने मन बुद्धि में प्रवेश करता हुआ परमात्मा तक पहुंचे <clears throat> अब ये <clears throat> उसके बाद जो है क्योंकि जो मैं घई सतगोविंद सागर है करे सुराम कागमती आगर है और नहीं बोले कि ही मन धीरा कहते देखो हमको देखो और धरे धारण करो इससे मालूम ये होता है कि इन लोग संपादी ने बता दे दिया इतने समुद्र के पार वहाँ सीता जी है लेकिन बानर जो है ये जान करके घबराने लगे करे अब सीता जी की खबर लगाना मालूम हो गया कि सीता जी वहाँ है तो भी वहाँ तक पहुँचना और सीता जी की खबर लाना ये सबसे तो बड़ा मुश्किल काम दूसरी अड़चन पड़ गई अभी तक तो सीता जी का पता ही नहीं था अब पता नहीं चला तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ये दिखाई देता है तो <clears throat> ये सब अभी हो रहे थे तो उन्होंने धैर्य दिलाया संपाति ने और उसका प्रमाण दिया कहा कि मन धीरा राम कृपा कस भयो शरीरा तुम देखो ये सब कार्य भगवान की कृपा से हो रहे हैं तुम ये न समझो कि तुम जो है अपने आप ही तुम बड़े बलवान हो शक्तिशाली हो सब कुछ तुम्हें कर लोगे तुमने भी जो कुछ भी शक्ति है वो सब परमात्मा की उसी कृपा से सब चल रहा है और जरा देखो हमारे शरीर को हाँ तो संपादी अपने शरीर को दिखाता है अब इसमें क्या होगा तो उसके संपादी शरीर है जैसे चंद्रमा नामक मुनि ने कहा था जब ये दूध भगवान को मिलेंगे तो तुम्हारे पंख जमे आएंगे तो उसके पंख जमने लगे और शरीर से सोने लगा उसका तो उसने दिखाया कि देखो अब ये सब शरीर कैसा हमारा हो रहा है उसको मानिए ये सब भगवान की कृपा ही होगी इतने दिन तक पड़े रहने पर पंख जमे नहीं और आप पंख जमने लगे कृपा तो के जाकर नाम मेरे ही ये सिद्धांत तो धर्म ये क्या तो भक्ति जो सिद्धांत बीच बीच में बोलते रहते हैं तो आप देखो संपाति में भी भक्ति की बात कर दी कि पापी जाकर नाम सुंदर ही नहीं जिस परमात्मा का नाम अगर पापी लोग तो वैसे भगवान का नाम लेते ही नहीं लेकिन वो तो उनके पाप करेंगे ये बात बस दो ही बातें हैं एक बात तो ये है कि अगर पापी होगा तो पाप का प्रभाव ये होता है कि बुद्धि बहुमुखी हो जाती है और परमात्मा में अविश्वास हो जाता है ये पापी के तो फलस्वरूप होगा लेकिन कदाचित कहीं कोई संत और सत्संग कहीं प्राप्त हो जाए और बरबस उसको जो है भगवान का नाम लेने लगे और बेमन भी भगवान का नाम लेने लगे उल्टा सीधा भी लेने लगे रीझ खींच करके लेने लगे या संसार में तमाम दुखों से दाखिल होकर के ये सोच करके अगर परमात्मा हो तो चलो उसका नाम ले लेते हैं ऐसे ही करके वो लेने लगे तो भी उसके लिए रास्ता मिल जाएगा और वो फिर भगवान की तरफ आ जाए उनकी भगवान की तरफ सम्मुख हो उनका नाम ले तो धीरे धीरे उसके पाप करते जाएंगे जैसे जैसे पाप दूर होते जाएंगे वैसे परमात्मा का ज्ञान भी बढ़ता जाएगा श्रद्धा विश्वास भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भक्ति भी बढ़ती जाएगी ये सब क्रम क्रम से आगे होता चला जाता है ये कहते हैं पापे जाकर नाम सुन रही तो अति अपार भव सागर कर ये जीव जो है वो संसार सागर में पड़ा है <clears throat> भव सागर संसार सागर संसार सागर याद रखते हैं हर जीव ने अज्ञान के कारण से अपने अपना एक संसार बना रखा है बस उसी संसार के घेरे में घिरा हुआ डूबता उठाता रहता है ये सब शरीर में हूँ शरीर से संबंध रखने वाला मेरे परिवार पुत्र पुत्रियाँ आदि ये सब मेरे हैं मेरा धन है मेरा इतना ज्ञान है मेरा इतना बल है ये सब जो है उसका संसार है और उसी में कुछ न कोई जनता बिगड़ता रहता है और जो कोई जनता बिगड़ता रहता है उससे सुखी दुखी होता रहता है ये मिल गया ये मिल गया ये बन गया वो बन गया ये बिगड़ गया वो बिगड़ है इसी में सब उसका जो है सुख दुख जो है संसार के भीतर ही बना रहता है संसार एक काल्पनिक रचना और उसमें सब वस्तुओं में जितनी वस्तुएं संसार के अंतर्गत आती हैं वो सब उनमें रागदेश और फिर उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में सुख और दुख रागदेश का जन्म शुरू होता है तो वहां से सुख दुख के द्वंद में उसका अंत होता है बस रागदेश में संसार और सुख दुख का भोग ये व्यक्ति के सबके संसार के अंतर्गत चलता रहता है ये बात खूब अच्छी तरह से याद करके रट करके रखनी चाहिए ये बात जो है और स्मरण रखनी चाहिए सदा कि जीव के साथ समस्या संसार की है और संसार ऐसा है और सुख दुख इस प्रकार की है ये याद होते और इससे बचने का उपाय क्या है तो इस जगत से परे माया से पार जो परब्रह्म परमात्मा है उसका स्मरण करो चाहे सगुण का चाहे निर्गुण का चाहे जिस प्रकार के हो उस माया के जगतातीत परमात्मा का स्मरण उसका स्मरण करके करते बुद्धि जब उसमें लगेगी तब इस संसार से छूटेगी तो संसार से छूटेगी तब राग आप समाप्त होंगे सुख दुख भी समाप्त होंगे संसार सागर से पार होंगे तो एक ही पंक्ति में इतनी बात बस है मूल बात मुख्य इतनी बात है सब इतना ही करना समस्या जीव के साथ में क्या है तो उसका संसार सागर हो गया और उससे छूटने का उपाय क्या है कि संसार से परे जो परब्रह्म परमात्मा है उस परमात्मा का स्मरण करो नाम लो मुंह से नाम लो गले से नाम लो मन में नाम लो उस परमात्मा के शास्त्रों में लक्षण बताए गए हैं सब स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप उनका स्मरण करो जो किसी प्रकार से उसका नाम लो उसके रूप का स्मरण करो सुंदर स्वरूप का स्मरण करो सगुण रूप का स्मरण करो निर्गुण रूप का स्मरण करो जो जिसको जिस प्रकार गुरु जैसे हो इस प्रकार से उसको बस उसी परमात्मा को ध्यान देने में और उसी में अपने चित्र को जोड़ने में लगाने में ही कल्याण है इसलिए कहते हैं काश दूत तुम तभी आई ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा के तुम दूत हो उन लोगों ने भगवान ने तुम लोगों को कृपा करके भेजा है इस प्रकार सीता जी की खोज करने के लिए तुम बड़े भाग्यशाली हो तुम इस प्रकार की कायरता की बातें मत करो मैंने उस परमात्मा जो सर्वशक्तिमान परमात्मा उसके तुम दूत हो तो तुमको उसमें कायरता किस बात तुम उसमें निराश होने की क्या तुम्हें चिंतित होने की क्या जिसके लिए कोई स्थान ही नहीं वो सर्वशक्तिमान परमात्मा उसके उसका कार्य तुम कर रहे हो और सब वही करा रहा है तुमको जब पास दूत तुम कभी कबराई राम हृदय घर करो पाई बस भगवान का उसमें अब देखो तुम्हारा काम में अड़चन तब पड़ेगी जब भगवान को जाओगे भूल और तुम अपने मन से काम करने लगोगे तब तुम्हारे काम में अड़चन पड़ेगी और भगवान को रखोगे याद और काम करते रहोगे भगवान का तो अपने आप काम सत्ता करा जाएगा तुम्हें कुछ उसमें जो परेशानी की कोई बातें नहीं चिंता करने की बातें जो नियम है कार्य करने का तरीका जीवन जीने का यही कर्म योग्य है और यही भक्ति योग्य है और यही जीवन का आध्यात्मिक रूप भी ऐसे ही है तो भगवान का उसमें रखो वो जिस प्रकार की बुद्धि लावे जैसा मार्ग दिखाता रहे <clears throat> उसी प्रकार से करते रहो बीच में अपना अहंकार मत लाओ जहाँ अहंकार ना तो रोने लगोगे परेशान हो जाओगे झंझट उतर जाओगे कठिनाई ही पड़ जाओगे इसलिए कहते राम हो गए भरी कर पाई और अस कही जरूर जीव जब गये कहते ऐसे कह करके वो जरूर जब वो दुर्ग चला गया अब संपाति तो फिर संपाति तक भी होगा अब उठा के ले जाने की जरूरत नहीं पड़े अभी तो उसको जब जब तक उसके पहले तो हनुमान ने उठा करके लाए थे समुद्र किनारे <clears throat> लेकिन अब संपाती के शरीर जो स्वस्थ हो गया पंखन के निकलने लगे ट्रेन चला गया हम्म। जब वो संपाति चला गया था <clears throat> अब ये गरुड़ संबोधन है इसमें मैंने कालकृष्ण जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ को हम्म। और ये कथा सुनानी चाहिए कालकृष्ण को गरुड़ को क्योंकि द्रव्य पक्षी है और पक्षियों के राजा गरुण है हाँ तो सब पक्षियों का राजा गरुण है सब दुग्धों का राजा जो है वो जटायु और संपाती है तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे ही वंश में तुम्हारे ही जात में ऐसे ऐसे पैदा हुए जटायु जैसे हुए संपाती जैसे हुए ये सब हुए तो उसको भी बड़ा उत्साह है अब देखो जिससे कि अध्यात्म का उपदेश दो किसी को धर्म की शिक्षा दो अब उसको जब ये बताओ कि देखो तुम्हारे पूर्वजों में कौन कौन लोग ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कैसे कैसे ज्ञान तुम्हारे पूर्वजों हुए हैं तो उस व्यक्ति को हृदय में विश्वास आएगा उत्साह बढ़ेगा हम्म? उसकी जाति के लोगों का वर्णन करो अब अब किसी के मन में इस प्रकार का भाव है अरे हम ब्राह्मण न हम छत्री हम तो वैश्य हैं हमें सतराजी बंदी चलते रहे वही काम दुनिया करते रहे अब हमको भगवान का भजन कैसे होगा तब उनको दिखाओ बताओ कि मैं नरसिंह जी को भगवान का भक्त हो गया है वो भी तो बनी नहीं था वो भी तो तराजी से पैदा करता था वो इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया है? हाँ? तो उसको लगेगी हाँ उसके हाँ, तो माने बनिया होकर के भी हम भगवान के भक्त हो सकते हैं ये तरीका इस प्रकार तो ये सब ये शास्त्र ये बताते हैं कि <clears throat> लोगों को उत्साहित करने के लिए उसमें भक्ति के मार्ग में लगावे अध्यात्म के मार्ग में लगावे तो उन्हें उसी प्रकार से बता स्त्रियों को जैसे सर्दी का नाम दे दो तो कोई भी स्त्री चाहे तो जब खड़ी से और चाहे वो अपने आप का कमजोर समझती हो उसकी ताकत आ जाएगी कि अरे शबरी को भक्ति प्राप्त हो गई और भगवान को दर्शन प्राप्त हो गए तो हम तो नहीं हो सकते तो ये यही उस प्रकार के वो हो तरीका लोगों को उत्साहित करने का तरीका है तो ऐसे करके जो जो है वो हो गर्व को उत्साहित कर रहे हैं काव्य सिंह कह रहे हैं गर्व अरे तुम संशय करते हो अब इनको देखो संपाति के वंश मात्र के संशय संशय नहीं भी क्या कह रहा है पापे जाकर नाम सुन रही और कहते हैं अपापी अपार भव सागर कर रही संपाति ये कह रहा है और तुमको लग रहा है संशय भगवान हम्म? तो गरुड़ का संशय दूर हो रहा है तो अस करे गरुड़ दीर्घ जब गये और तुम तुमको मन अति विस्मय भयू अच्छा जब वो संपा के चला गया तो अब क्या हुआ उसके बाद में तब ये सब लोग जो है ये सब घटनाएं जो घटने एक दिन बीच में तो ये सब लोग आश्चर्य करने लगे विचार करते थे देखो हम अनाथ अपाहिज जैसे यहाँ बैठे हुए थे कोई रास्ता नहीं सूझता था देखो भगवान की कृपा से कहाँ से संपाति आ गया और कहाँ से उसने देखो ये सब बता भी दिया कि सीता जी समुद्र के पार है नहीं तो हम भूले लेते तो समुद्र के पार कहाँ जाने की बात थी हम घूरते थे तो यही पृथ्वी पर आस पास घूरते रहते समुद्र के पार जाने के तो कभी विचार भी न करते हम अब जब तक तो इस प्रकार की घटना में जब तक संपाति में नहीं कहा तो बानर का घूमे लेते थे अपने आप सीताजी को हम्म? तो कहा देखो भगवान ने कैसे जो सब भगवान की लीला देखो कहाँ से संपाती आ गया और कहाँ से उसने बता दिया कि समुद्र के पास सीता जी सीता जी का पता भी लग गया हम्म। ये भी देखा उन लोगों ने कि संपाती को जैसे देखते देखते उससे पंथ बन गए तो हाँ, भगवान की शक्ति देखो कैसे कृपाल भगवान है कैसे शक्तिमान भगवान है वहीं से बैठे बैठे सबको शक्ति दे रहे हैं सबको मार सुझा रहे हैं सबको इस प्रकार से कर रहे हैं ये सब कुछ <clears throat> देखो अब ये जो संपाती की बात कही थी अब आगे जो है वही की भगवान का नाम लो और <clears throat> राम गए घर करे कर उपाय हम्म, अब देखो इसमें कौन क्या करता है संपाती की बात को कौन कितना मानता है और कौन नहीं मानता है कहने को उपदेश तो बहुत दिए जाते हैं और सुनने वाले उपदेश सुनते भी हैं लेकिन कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते हैं हाँ? नहीं सुनते बिना ये नहीं तो उनके काम में ज्ञान बुद्धि में नहीं आया मानव सुनते हैं सुना दे समझा दे लेकिन करते कितना है सुनना तो कर है जब करे भी हाँ? जैसे किसी को कहीं जाओ एक गिलास पानी गया अब उठे तो नहीं तो क्या कहेंगे उसे तो सुना नहीं तो कहेंगे उसे अब सुना नहीं माने उसने सुना तो लेकिन नहीं जाता तो हम कहेंगे कि सुना नहीं सुना बोलते तो व्यवहार में इसी प्रकार इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो अध्यात्म के क्षेत्र में <clears throat> सब सब ज्ञान की बात है भक्ति की बात है सभी सिद्धांत हैं और बोले भी जाते हैं और सुनने के लोग सुनते भी हैं लेकिन कितना सुनते हैं ये पूछो सुनकर के भी नहीं सुनते कहने को कहो सुना तो कहा सुना क्या सुना वो व्यक्त का बोल भी देंगे जो सुना हमने है लेकिन उसके बाद क्या है जहां के पास अब देखो इसके बाद में क्या होता है अशुक गरे जीव जब गये तिल के मन अति दुष्मय भयू मेरे जो बल सब का हुई भाषा शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न है उसकी भी बातें याद आ जाती है आजकल वो भी सामने प्रश्न शंकराचार्य जी के प्रश्न उत्तर आते हैं तो पूछते हैं <clears throat> पूछते हैं कि गुंडा कौन है देखो प्रश्न आता है गुंडा कौन है सबका उत्तर गुंडा कौन है तो आपका भी गुंडा वो है जिसको कुछ बोलता नहीं जी जिसको तो नहीं है और बोल नहीं सकता उसे गूंगा कहेंगे कहते ना ये गुंडे गूंगे नहीं गुंडे वो है जो समय पर उचित बात नहीं बोल सकते वो गुंडे हैं हम्म? फिर कहते बड़ा कौन है जब बीवी की बात आएगी तो फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा बड़ा कौन है तो बहरा वो है जो सुन करके भी नहीं सुनता समझ कहा से सुनाई देगा सुनाई देता है लेकिन सुन करके भी उसको ध्यान नहीं देता अमल नहीं करता वो बहरा है तो ये कहते हैं देखो <clears throat> सबके मन अति दुश्मन भेगी और सबका दुश्मन होगा अब देखो जहाँ पर जितनी जो कथा चलती है तो हर वक्त ये नहीं कहते कि बानर लोग <clears throat> आए समुद्र तट के ऊपर तो समुद्र तट पर पहुंच करके फिर वो लोग वहाँ पर बैठे ये तो बताया बैठ गए आसन दिखा करके फिर वो दिन भर बैठे रहे दूसरे दिन बैठे रहे तीसरे दिन बैठे रहे कई दिन बैठे रहे ये सब नहीं बताते ये सब अपने मैंने बार बार बोलते रहे तो वो महाकाव्य जो है उसके वर्णन करने की शैली में थोड़ा बद्दापन आ जाता है इसलिए बार बार जो आज का दिन भी खत्म हो गया और फिर दूसरा दिन शुरू हुआ फिर बैठे रहे दिन भर और वो दिन भी खत्म हो गया और फिर बैठे रहे फिर वो भी दिन खत्म हो गया ऐसे नहीं बोलते संपाती भी आया वो भी उससे उस दिन की घटना हुई और फिर ये कहें कि फिर तो संध्या काल हो गया और फिर रात्रि हो गई और संपाती फिर चला गया और उसके बाद में फिर ये लोग वहीं के समुद्र किनारे बैठे रहे अब ये सब बार बार नहीं बोलते लेकिन हुआ ये कि जिस दिन संपाति ऋषि ये बात हुई उस दिन संध्या काल हो गया यही सब चर्चा होते बात होते जलांजल देते जलांजल देते हुए <clears throat> अंत में संपाति जो सायकाल चला गया तब ये रात बीती और दूसरे दिन फिर ये लोग <clears throat> योजना बनाने लगे कि भाई अब समुद्र पार तो किसी न किसी को जाना ही है आपस में बातचीत करने लगे कि समुद्र पार कौन जाए तो अंगद ने बात शुरू की उन सब लोगों से कहा कि भय समुद्र को तो कौन पार कर सकता है कौन पार जाए तो ये बानवे लोग छलांग लगाने में बड़े प्रवीण थे कोई कोई तो इतने शक्तिशाली थे कि एक पेड़ पर कुछ छलांग लगाना दूसरे पेड़ पर चले इतना तो हर बंदर कर लेता है देखते रहते तो। रहते कोई कोई बंदर ऐसे थे जो पहाड़ पर जाते थे और एक पहाड़ करते थे दूसरे पहाड़ की चोटी पर कूद करके उसको पहुंच जाते थे अब वो रास्ते में अगर वो पहाड़ के एक पहाड़ के दूसरे पहाड़ के चढ़ाई में है अगर मान लो <clears throat> कोष भर का दो कोष का दस कोष का अंतर है तो एक पहाड़ से टूट के दूसरे पहाड़ पहुंच जाते हैं और कोई कोई बड़े बड़े पहाड़ होते तो एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ पर टूटते कूदते तो बीस बीस योजन तीस तीस योजन चालीस चालीस योजन ऐसे छाने लगाने वाले ये सब बानर थे कितनी चीज जाते थे सबको पता था कि हम कितनी दूर छाने लगाते लेकिन दानियों को तो पता होता है कि ये तो हम इसकी दूर ताक लगा के बैठेंगे तो इसके पास जब जान जाएंगे तो हम यहाँ छलांग लगाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे तो छलांग लगाते हैं और नहीं तो वो जान जाते हैं यहाँ छलांग नहीं लगा सकते तो दूसरे चक्कर काट के दूसरी तरफ से पहुंच जाएंगे तो।, तो इन सब लोगों ने छलांग लगाने का पता था तो अंगद ने सबसे पूछा कि भाई समुद्र के पार कौन जा सकता है तो यहाँ बहुत से बानियों के नाम नहीं दिए हैं किसी राशि जितनी जरूरत जब वो छोटी उतनी की बात कर रहे तो हैं लेकिन जब विविध नयंद ऐसे बहुत से और भी दानव उनके साथ में हैं जिनके की नाम उन्होंने नहीं लिए हैं <clears throat> केवल नाम नलनीज का नाम लिया है जामनान का नाम लिया अंगद का नाम लिया हनुमान का नाम लिया लेकिन और भी दानव उनके साथ में हैं वो सब दानवों ने फिर अपने अपने जब आगे भी शुरू किया वहाँ से <clears throat> कि हमारी तो सहमत इतनी है कि हम दस योजन की पत्ते को छलांग लगा सकते हैं विविध ने कहा कि हम भाई बीस योजन तक की चलाने वाले हैं अब सौ योजन कौन जाएगा तब तीसरे ने कहा कि भाई अच्छा है ये है कि हम तीस योजन तक छलांग लगा दें तो किसी ने कहा हम चालीस योजन तक छलांग लगा देंगे नल का नंबर आया तो उन्होंने भी कहा कि हम पचास तक लगा देंगे हम साठ तक लगा देंगे हम सत्तर तक लगा देंगे आखिर में जानमान बोले कि भाई सब जब चुप हो गए तो ज्ञान ज्ञान का हमने भी छलांगे बहुत लगाई हैं और हम नब्बे योजन तक के जो है वो हो छलांग <clears throat> लगा सकते और फिर हमारा शरीर जो बिठा हो गया अब नब्बे योजन भी हम छलांग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे इसमें संदेह हमको ये है हाँ? तो सब इतना कह करके चुप हो गए हाँ? तो निजी निजी बल सबका हुई भाषा ये मतलब इसका चौपाई था कि सब लोगों ने कितनी लंबी छलांग लगा सकते थे उन सब ने अपने अपने वर्णन कर दिया कर्म से और तो पार जाए कर संशय रहा था मैंने इतनी चौपाई में ये बात भी आ गई कि उन्होंने अपनी सीमा बता दी हम इतनी छलांग लगा सकते हैं पार कैसे पूछेंगे सयोजन तो हम पार नहीं जा पाएंगे मैंने सयोजन नहीं पूछ सकते हम दस बीस पच्चीस तीस चालीस योजन हैं तो बस पूछ जाएंगे कोई कितना कोई कितना उस प्रकार से बता दिया और फिर कहा कि अब जामान का कहे जट भाई अब कहे शेषा ये शेषा मैंने जामान बोले कि भाई हम तो वृद्ध हो गए हैं अब हम क्या करें हम्म, नहीं बन रहा प्रथम बल लेसा जामान ने कहा कि हम नब्बे योजन तक अब भी हम लगा सकते हैं छलांग लगा सकते हैं लेकिन पहले की बात अब नहीं रह गई हम पहले की बात जो है गर्भ बने अब देखो हम कितने बुद्ध हो गए हैं तो अब हम नब्बे योजन से ज्यादा छलांग नहीं लगा सकते नहीं बन रहा प्रथम बल लेसा और ये सब लोग जानते थे कि ब्राह्मण बड़े शक्ति में थे पुरानी कथा उनके सबके साथ में रहते हुए तो एक दूसरे को जानते हुए किसमें कितनी ताकत रही है तो जामान में जामान की तरफ लोग ज्यादा आशा से देखने लगे तो मान ने कहा वो पुरानी बातें गई है जब तक की बातें कि बल जगल प्रदत्तम भय खरारे जब भगवान ये खरारी भगवान भगवान राम ने जब पहले अवतार दिया था तब पर तो विक्रम हुए तो विक्रम हुए कि मैंने वो जो बल को बांधने वाले जो है वो हो बावन भगवान बावन जो है वो त्रिविक्रम जो वो हो जब उन्होंने बावन ने अवतार दिया तो बावन भगवान ने तब तब में तरुण रहे बल भारी तो ये सभी की बात थी अब आ गया प्रेता है अब देखो अब बुढ़ापा प्रेता में आया सफेद रूप में पैदा हुए जब प्रेता में आया तब उनका बुढ़ापा है और द्वापर में आए चल रहा इनसे इनसे लड़ाई हुई थी भगवान कृष्ण से मलिक ऐसे ऐसे मैंने कितने में हटा होता बुद्धे भी रहते थे कितने तो दिन रहते हैं तब तो उनको जो सतयुग ने उनसे कहते हैं कि तब हमने जब भगवान ने उतार दिया था तब उस समय हम तरुण थे और उस समय क्या किया था कि बल बांध प्रभु बाल सोतन वर्ग में गया है तो जब उन्होंने बल को बांधा तब तीन तीन पद में उन्हें पृथ्वी मांगी थी तो उनको जब सारी पृथ्वी उन्होंने एक पैर में नाप ली तो आकाश भी एक पैर में सब नाप लिया तब उसके बाद में जब कहुआ बल से की अब तुम और तुम एक की एक पैर और दो पृथ्वी तक है तब बल ने कहा भाई अब हमारा शरीर हो गया तो तुम और नाप लो आ गया तो उसमें तो भगवान ने उसको बलि के शरीर को बांध के डाल करके तीसरा पैर बढ़ा के सुना था उस समय उन्होंने जब अपना विशाल रूप धारण किया भगवान ने तब उस समय भगवान का रूप विशाल समझ में कितना बड़ा होगा जब इनको पृथ्वी सारी पृथ्वी को एक भी नाप लेंगे तब जनमान ने क्या किया था तब कहते हैं कि उभय घड़ी महादीनी सात प्रवेक्षण था तो ये इनको दो घड़ी लगा उसने सबने नापने देखने में और गले को बांधने में इतनी देर लगी उतनी देर तक जितनी देर तक देखा तो हमने देखा रे ये तो भगवान का अवतार हो गया और इतना विशाल रूप उनका है तो उस समय हमने भगवान की प्रदक्षिणा की और सात प्रतिष्ठान तो सात चक्कर लगा दिए उतनी देर में दौड़ तो समझ लो कितनी कितनी रफ्तार रही होगी उस समय कितनी दो से दौड़े होंगे तो लेकिन वो तो जवानी की बातें थी अब तो बुद्धे हो गए अब तो विवेक में समुद्र पार करने की सहमत नहीं रह गई लेकिन ये भी यहाँ पर नब्बे का नाम नहीं दिया गया है अन्य अन्य ग्रंथों में इस प्रकार का त्रिव्य है नाम कहते हैं इतने बुद्धे हो गए तब भी नब्बे योजन की छान का अध्ययन लगा सकते हैं हमने लगा के देखती है ये कोई बाधा नहीं है लेकिन ये तो सहयोग है और हाँ? इसके पार कैसे हो तो इसके माने ये सब कथा कह करके जानना ने अपनी भी असमर्थता अंत में व्यक्त कर दी तो जब ये व्यक्त कर दी तो अंगद इनके सबके नेता थे तो अंगद अब कुछ और आगे विचार चलना चाहिए तो आगे क्या करते हैं <clears throat> अंगद कहा जाऊ में पारा जीव संशय कथित ऋतु बारा जामवंत तो तुम सब लायक पथे पथये तुम सब ही करनायक कहा पति सुन हनुमान काचित साध रहे बलगाना पवन तमेर